वो अल्लाह रबुल ने हमें अपने खजान की सबसे ज्यादा मुक्ति अनमोल नियम है जिसका कोई मोल नहीं जिसकी कोई कीमत अदा नहीं कर सकता वो दौलत आपको अल्लाह फरमाई वो दौलत बनती है हमारे नबियों का कसम खाने हमारे नबियों का कसम की जरूरत नहीं हमारे नबी की बात तो हक है सच है पत्थर की लकीर है हमारे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजाक करके झूठ नहीं बोले मजाक करके झूठ नहीं बोले अब जो मजाक करके झूठ ना बोले उनको कसम खाने की क्या जरूरत है हम सबको ईमान की कीमत समझाने के लिए कि मेरे नंबर अपने ईमान की कीमत को पहचान ले अपने कलमे की कीमत पहचान है ईमान कितना किसी है इसलिए हमारे नबी उस पांच की कसम जिसके कब्जे में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है उस पांच की कसम जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है का सातों आसमान सातों जमीन एक पलड़े में रख दिया जाए और दूसरी तरफ तो कहा बंगला सोचे अब सातों सातों के जमीन के दरमियान में हम क्या आए नहीं आए अरे बोले हम आए गए कहा हमारे जान से भी ज्यादा रीति चीज क्या है अरे बोले बीमार हमारे जान से भी ज्यादा रीति चीज हमारा ईमान हमारे है माँ बाप की है ईमान है ईमान दुनिया की चीज है हर हर चीज से ज्यादा सोने चांदी सर जवेरात ये तमाम की तमाम चीजें क्या है इन तमाम चीजों से ज्यादा कोई चीज क्या है बोलो मेरा आपका ईमान है जो कलमा पड़ता है और जो जानकारी जानकारी है तो सब कुछ छोड़ देता है अभी कोरोना के जमाने में एक आदमी ने अपनी जान बचाने के लिए चौबीस लाख रूपये लगाया चौबीस लाख का तो पैसों की फिक्र न सब कुछ लगा दूंगा घर लगा दूंगा मकान लगा दूंगा दुकान लगा दूंगा लेकिन मेरी जान बच जाता है जब जान पर आती है तो आदमी अपना सब कुछ लगा देता है मेरे निकाला अपनी जान से ज्यादा कीमती चीज क्या है वो मुझे मुझे और आपको सारा दिया है आज ईमान को बनाना बचाना इसकी जिम्मेदारी हमारी है हम इसकी फिक्र करें आदमी फिक्र करे मुसलमान होने के नाते ईमान वाले होने की बुनियाद पर हमें इस बात की फिक्र होनी चाहिए भाई ईमान से अल्लाह हमसे क्या बात चाह रहे हैं ईमान से क्या बात करने जा रहे हैं तो ईमान बनता है ईमान के गौरव से क्योंकि ईमान से क्या बात कही जा रही है हाँ, ईमान से बात कही जा रही है कि हमारे अंदर का यकीन क्या होगा बोलो सही हो जाएगा कैसा सही होगा कि दिल अंदर से हो रहे जो कुछ हो रहा है बोलो कौन कर रहा है अरे बोलो कौन कर रहा है अपनी नफी के साथ अपनी जाति आज हम सब कहते हैं किसी से कुछ नहीं होता अरे कहते हैं नहीं कहते फिर बात कर दीजिए से पूछो मुझसे अगर बोलो मुझसे अगर सब कुछ होता है मेरे बगल कैसे चलेगा मैं हूं तो घर चलता है मैं हूं तो दुकान चलती है वो बात तो सही है लेकिन मेरा होना जरूरी है तो जो मैं मैं मुझसे भी कुछ नहीं होता किसी से तो मुझसे भी मुझसे भी कुछ नहीं होता करने वाले ये बुनियाद आदमी सबकी नफी करता है अपनी नफी करना भूल जाता है मैं मैं मैं करता है अब बकरी भी क्या कहती है तो क्या होता है अरे छुरी चलती है नहीं चलती मैं मैं नहीं कौन करता है बोलो अल्लाह अल्लाह से होता है सब कुछ एक अकेले अल्लाह के हाथ में है पूरी दुनिया अल्लाह ने बनाई है कोई चीज अल्लाह के कंट्रोल से बाहर पूरी दुनिया अल्लाह ने बनाई और पूरी दुनिया पर अल्लाह का कंट्रोल है तो एक आदमी गाड़ी बनाता है तो गाड़ी का कंट्रोल किसके हाथ में अरे बोलो बनाने वाला होता है कि गाड़ी खुद को चलती है अरे बोलो मैं आपको कहूँ तो फिर बाइक खुद को खुद चली मेरे घर से और को उसके बाद घूमने आ गए आप क्या कहेंगे हाँ, तो ऊपर का खाली है ऐसा तो होता होगा फिर आपको तो आपकी बीवी आप घर जाओगे फिर आपकी बीवी आपको तो आपको अजीब हो गया बोले क्या अजीब हो गया कब मैं बैठी थी ऑटोमेटिक गैस चला ऑटोमेटिक ऊपर से कुकर उतरा कुकर गैस पर चला गया और खुद को खुद मिट्टी में से पानी कुकर में गया और फिर वो चावल का डब्बा ऑटोमेटिक तो खुला और चावल डायरेक्ट कुकर में पड़े तो क्या कहेंगे अरे उसको कोई जिंदा चाहिए तो पागल हो गई अरे बोले ऐसा होगा अरे बोले ऐसा होगा जब एक घर घर के अंदर एक गैस एक डब्बा एक पानी का मटका घर के मालिक के कंट्रोल में है तो पूरी दुनिया बनाने वाला अल्लाह उस अल्लाह का कंट्रोल वो लोग पूरी दुनिया पर है कि नहीं अरे ऑटोमेटिक होता है भाई रात ऑटोमेटिक होती है अरे बोलो ना रात कौन लाता है दिन कौन लाता है सूरज कौन निकालता है चांद कौन निकालता है पूरा निजाम अल्लाह करता है बारिश कौन गिराता है अल्लाह गिराता है रजन नहीं आती उसका नहीं करने वाला कौन है अल्लाह मुसलमान होने के नाते हमारे इसके अंदर है भाई ये हमारी मान्यता बन जाता है तो सब कुछ करने वाले कौन है ठीक है हमारे है हमारी मान्यता हमारी मान्यता है एक मुसलमान की मान्यता कैसी होनी चाहिए इसके दिन में क्या होना चाहिए आज ऐसे माहौल में रहे हैं ऐसे माहौल में रहे हैं जिन माहौल में ऐसी गलत गलत मान्यताएं चल रही है और आदमी जो सुनता है वो दिल में उतर जाता है अल्लाह ने है ईमान के दिल में आने के चार रास्ते हैं कितने रास्ते बोलो चार एक बताया गया जबान एक बताया नाम एक बताया कान और तीसरा बताया ईमान सोच ये चार ये चार रास्तों के जरिए दिल में हर बात उतरती है ये चार रास्ते में जहां होगा वो चीज दिल हो अब हमने शुरू शुरू करा गलत गलत माना जाता है कल भी मौलाना ने बताया था आपको बिजली आज पड़ी तो क्या हुआ बोलो क्या हुआ अब सुपर होगा बिजली किसने बनाई और बकरी किसने बनाई कुत्ता किसने बनाया बकरी आगे कुछ नहीं और बिजली का लेकिन इस मुस्कुराहट इस वाला बयान सुना तो वे करने वाला कौन है फौरन में क्या ऐसे ऐसा कुछ नहीं अभी वो मोदी साहब ने बयान में कहा है कि भाई ऐसा कुछ नहीं है करने वाला अल्लाह है तो चलो ठीक मारो निकल हैं दुनिया मानना क्या सही हो रहा है कितने सारे गलत गलत कौवा बोले तो बोले मेहमान है हाथ में चला रहा बोले तो कैसे है अरे है ऐसे शादी के मौके पर मौत मज्जत के मौके पर ऐसी बहुत सारी गलत गलत मान्यताएं है जो हमारा जिंदगियों में हमारे दिलों में हमारे घरों में खुसूसन हमारे बातों में इसलिए अल्लाह घरों में तालीम का हल्का कार्य कर तालीम के जरिए और छह सिफात के मुजाहरों के जरिए हमारे बापों और हमारे बच्चों के दिलों में ये सारी गलत मान्यताएं दिलों से निकले और अल्लाह के होने की अपील की बात दिल में बैठ जाए ये बात कही जा रही है कि सारी गलत और हमारे नबी हजरत उमर अब जमाने में हमारे नबी जो दुनिया में आए हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह इनके आने का मकसद यही था कि हर एक के दिलों से सब निकाल देखो अल्लाह का अल्लाह का घर बाबा जैसे जगह पर तीन सौ साठ थे लोगों का गलत यकीन हो गया है तो भाई किसी की औलाद नहीं है तो इसके लिए इस बुद्ध की पूजा करो तो, तो तुम्हें औलाद देगा हिफाजत का बुद्ध अलग शिफा देने वाला बुद्ध अलग वे कोई बीमार है बोले इस बुद्ध को राजी करो ताकि क्या होगा ताकि अच्छा हो जाएगा अलग अलग बुद्ध थे तीन सौ साठ हमारे नबी हजरत सईदीना मोहम्मद जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और क्या कहा ये तीन सौ साठ से नहीं होता प्रभु था ये तीन सौ सात से एक अकेले शिफा देने वाला रोजी देने वाला हिफाजत करने वाला औलाद देने वाला कौन है बोलो बारिश देने वाला कौन है बोलो मेहनत आकाश रास्ते में की और मेहनत के नतीजे में ये बात बुनियाद करी हजरत उमर रजी अल्लाह तला के जमाने में हजरत साद रजी अल्लाह तला एक इलाके में पहुंचे जब उस इलाके में गए तो सारे मुसलमान हो गए क्योंकि साहबा इमाम रजी अल्लाह नहीं के अखलाक थे ऐसे अखलाक आज मुसलमान के अखलाक निकल गए जिंदगी से अल्लाह माफ फरमा क्या कहा जाए ना मुसलमान के अखलाक देखकर लोग मुसलमान बन जाते इसलिए अल्लाह वाले कहते दुनिया में जो दिन फैलाए वो अखलाक से फैलाए किससे फैलाए बोलो अखलाक से फैलाए जितना हमारी जिंदगी में अखलाक होंगे अल्लाह पाक लोगों को दीन के करीब करेंगे इस्लाम के करीब करेंगे तथा पूरा इलाका मुसलमान हो गया मुसलमान होने के बाद वो तमाम के तमाम हजरत आज रजी अल्लाह के पास आए और आके कहने लगे भाई हमारा यहाँ जो है इस महीने में दो महीने थे जैसे हमारे यहाँ जानवरी फेब्रुआरी और इसमें बहादुरवाड़ा क्या क्या होता है इनके इलाके में दो ऐसे महीने थे इस महीने में हम एक कुंवर लड़की को लेते हैं इसके बाप को बड़े पैसे दे देते हैं माँ बाप को राजी करते हैं फिर इसको तैयार करते हैं जब जगह में डालते तो पानी आता है वरना पानी हर साल एक लड़की की बलि चढ़ती है तब जाके पानी आता है हजरत साहब रजी अल्लाह ने फौरन कह दिया ला बोलो तब आप ये सब बातें नहीं चलेगी ये रीत रिवाज नहीं चलेंगे ये रुस्म रिवाज नहीं चलेंगे अब तो वही चलेगा जो मोहम्मद रसूलुल्लाह जो बात लेके आए हैं वही बात चलेगी वो पूरा घटना कह रहा है पूरा इलाका कह रहा है हजारों आदमी कह रहे हैं हमारे सालों का तजुर्बा है सालों का अनुभव है सालों से हम करते आए हैं बोले पानी नहीं आया ये कहा नहीं नहीं करने वाले कौन है बोले और सब रीति रिवाज नहीं चलेंगे अब तो वही रीति रिवाज चलेंगे जो मोहम्मद तो अल्लाह इम्तिहान लेते हैं परीक्षा करते हैं कि मेरा बंदा क्या करता है तो हकीकत में पानी नहीं आया अरे बोले पानी नहीं आया हजरत साहब को पूरा मजमा कह रहे हैं देखो हजरत कहते थे पानी नहीं आया हजरत साहब रजी अल्लाह साहबा को तो अपने ईमान में कितने पक्के इसलिए अल्लाह ने अल्लाह वाले फरमाते हैं अल्लाह कुरान ने फरमाया इसका अल्लाह का मफहूम है आप ईमान लाओ जैसे तो सहाबा लाए रजी अल्लाह वो सब कह रहे हजारों आदमी कह रहे देखो हमें कहा जाना नहीं आ रहा नहीं नहीं नहीं ये सब विवाद नहीं चलेगा अब तो वही तो बात चलेगी जो बात लेके आए हैं वही बात चलेगी ये सारी बातें गलत है तो पानी नहीं आया तो उन्होंने खुद फैसला नहीं किया इसने कहा ना अपने अकल के घोड़े मत दौड़ाओ लोगों को देखा देखी शादी मत करो जब घर में शादी आवे तो जाके मोर साहब से मिलो अपने घर घर में तो बुजुर्ग है वो बड़ी उम्र वाले इनकी देखकर वो जैसा कहते वैसा करते हैं जैसा करना पड़ेगा ऐसा करना पड़ेगा नहीं भाई हम किसको बोलेंगे बोलो अगर बोलो किसको बोलेंगे मुफ्ती साहब मुफ्ती साहब हमारे घर में शादी है अब अल्लाह का क्या हुक्म है अल्लाह के नबी का क्या तरीका है ये पूछिए हम तो उन्होंने किसको लिखा अरे बोलो हजरत रजी अल्लाह को पत्र लिखा हजरत रजी अल्लाह अमीर मोमिन थे पूरी कारगुजारी लिखी खत्म है क्या मैंने मामले नहीं आया ऐसा ऐसा हुआ है पहले ब्राह्मण तो मामले मोहम्मद अली अल्लाह तला ने खत का जवाब दिया क्या दिया बोला खत का जवाब और जवाब में क्या लिखा कि आपकी बात बिल्कुल सही है अब तो वही बात मिलेगी जो हजरत मोहम्मद रसूल ने किया है ये सारे खत्म हो जाएंगे हमें तेरे बदन की पाल के दिखाएगा अगर पिट्ठी खाली पिट्ठी दे दिए देखो ईमान का पावर ये जबरदस्त अल्लाह ने पावर दिया ईमान अगर ईमान बन जा रहा है आदमी का तो फिर किसी का मौका है हर चीज अल्लाह ताला इसके लिए मुसखर कर दे आसमान जमीन ये तमाम मखलूक मुसखर कर दी जाएगी इसके लिए मैदान में जिसको कोई तकलीफ हो जाए कोई तकलीफ नहीं पहुंचा सकता ईमान वाले अल्लाह अल्लाह है रब रब है तो कहते हैं और वो पर्ची जाए मिलको नहीं जैसे चिट्ठी दी दर्जा करना शुरू हो गए आज चौदह सौ है पैंतालीस इकतालीस साल हो गए अभी तक वो दर्जा नहीं चुका है अरे बात तो लेकिन तमाम गलत गलत और जो विवाद है गलत मान्यता है और एक अल्लाह को हमने की बात तो मैंने आपको दो तीन मिसाल बताई ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो ईमान के खिलाफ की बातें हैं जो हमारे भूल में हमारे चौबीस घंटे में अखबार घंटे तो बोलते ना चौबीस घंटे में इसलिए अल्लाह रहते वो फरमाते थे पहले बोलो फिर बोलो पहले बोलो मैं क्या बोलने जा रहा हूँ फिर बोल बहुत सारी बातें अच्छी है जो ईमान के खिलाफ बातें आती है मुश्किल मैं करता हूँ मुझसे होगा मैंने देखा कहा तो हो गया है आपके कैसे मैं कौन है आप काम पति जैसे अरे बोले बोलते क्या नहीं बोलते ये सब कौन से जुमले हैं ये सारे के सारे जुमले ईमान के खिलाफ के जुमले हैं मुसलमान के जुमले क्या होते हैं देखो मैं मैं कोशिश करूंगा करने वाले अल्लाह पाक है अल्लाह चाहेगा तो तेरा काम हो जाए नहीं जब तो भी मारेगा आपने कहिए कि पति भी ऐसा नहीं कहेगा क्या कहेगा बोलो मैं कोशिश करूंगा बात मतलब आदमी जब बहुत गुस्से में होता है तो घर में क्या कहता है वो ना हूं मैं तुमको कब तक खबर पड़ी जाए अरे बोलो कहता क्या नहीं कहता क्या कहता है बोलो वो ना हूं मैं तुमको कब तक खबर पड़ी जाए अरे भाई क्या तू हूँ मैं करता है हमारी कोई हैसियत नहीं है हमारे हम चले जाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इसलिए एक साथी ने बहुत अच्छी मिसाल बताई कहा सूरज ना निकले तो क्या होगा अरे बोलो ना सूरज ना निकले तो क्या होगा तमाम इंसानियत परेशान हो जाएगी अरे होगी कि नहीं होगी या सबको तकलीफ होगी कि नहीं होगी ना चांद ना निकले तो अरे बोलो तब भी इंसान इंसानियत हैरान परेशान हो जाए हवा न चले तो अरे बोलिए बारिश न आए तो का चांद न निकले हवा न चले सूरज न निकले बारिश न निकले पूरी इंसान क्या हो गया परेशान हो गया लेकिन हम चलेंगे तो घर में कोई फर्क पड़े अरे बोलो इतना गंदा बड़ा गलत फर्क ना पड़े तो हम तो बोलो दावे करते हैं लेकिन भाई सूरत ना तो इंसान है तकलीफ में अगर मैं ना हूँ तो घर में कोई फर्क होने वाला नहीं है इसका आदमी जब यकीन बच्चे जो होते हैं वो ज्यादा जल्दी ज्यादा शिक्षक होते हैं बट इस पर जिनके बाप होते हैं वो कहते तो धंधा नहीं कहते और बाप को टेंशन होता है और यकीन बेटे का हो जाता है बोलो गैर शिक्षा करना करते सब एक जिले में क्या खबर पानी वाला जला हम्म। तो करने वाला का पहली बात हमारे अंदर की मान्यता है अल्लाह की हकीकत की बात नहीं आता करने वाला सारा निजाम अल्लाह के हाथ में है दूसरा क्या है हमारे पैसे का मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम इससे क्या बात रहेगा कैसे बताया जा रही है अब हमारा हर काम आकर मोहम्मद रसूलुल्लाह हमारा इसमें हमारी नदी की मोहब्बत हमारे ध्यान से भी ज्यादा होना चाहिए इसलिए एक मतलब कहा हमारे नदी से कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे मेरी जान के अलावा आप हर चीज से महबूब है क्या कहा बोलो मेरी जान के अलावा हर चीज से आप महबूब हैं हमारे नबी मोहम्मद फरमाया जिसका खुलासा मकूम है आय उमर जब तक आदमी मुझे अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत नहीं करेगा वहां तक मुसलमान नहीं हो सकता बोलो किससे भी अरे बोलो किससे अपनी जान से भी ज्यादा मुझसे मोहब्बत नहीं करेगा वहां तक वो मुसलमान नहीं हो सकता उमर रबी अल्लाह ने कहा अल्लाह के नबी अब आप मुझे अपनी जान से भी ज्यादा महबूब है हमारे नबी ने कहा अल आने उमर क्या ये बात अभी पैदा हुई ये बात तो जिस वक्त कलमा पड़ा उसी दिन से अंदर पैदा होनी चाहिए थी तो मुझे मेरे नबी से अपनी जान से भी ज्यादा बोलो ईमान वाला वो है जो अपने नबी से अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत करे ये कहा जा रहा है हमारे नबी की मोहब्बत दिलों में बोलो अपनी जान से भी ज्यादा बीवी बच्चों से भी ज्यादा घर बार दौलत से भी ज्यादा हमें हमारे नबी से मोहब्बत होनी चाहिए और मोहब्बत की अलामत क्या है अरे बोलो मोहब्बत की अलामत क्या है खाली दावे करने के अरे बोलो ना यार मोहब्बत की अलामत ये है कि आदमी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर नक्शे कदम पर चले हर एक एक सुन्नत को अपनी जिंदगी में लाने की फिक्र करे जिसको अल्लाह के नबी से जितनी ज्यादा मोहब्बत होगी वो इतना सुन्नतों का पाबंद बनेगा क्या बनेगा बोलो सुन्नत का पाबंद जितनी नबी सल्लल्लाहु की दिलों में मोहब्बत है वो एक एक सुन्नत को हमारे नबी की अदा करेगा सुन्नत सुन्नत को सुन्नत समझकर नहीं छोड़ेगा अरे सुन्नत क्या है हमारे नबी वसल्लम के तरीके अरे तरीके अल्लाह के यहाँ बड़ा मह, बड़े महबूब है बड़े मकबूल हैं जो आदमी तरीकों पर चलेगा वो अल्लाह का महबूब और मकबूल बनेगा अरे भाई चाहते कोई नहीं चाहते अरे कौन चाहते हैं महबूब बनना बोलो ना यार अरे भाई सब चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा अरे क्या करना पड़ेगा हाँ आपका जितने तरीके बताए इन तरीकों पर अपनी जिंदगी डाल देनी पड़ेगी तो जितने भी अल्लाह वाले आए जितने भी अल्लाह वाले फिर आए अपनी गोस्पा रहमत ख्वाजा साहब ये अजमेरी रहमत जितने आए ये तमाम के तमाम सुन्नतों के पाबंद से इसलिए इतने मकबूल हो गए क्या हो गए बोलो इसलिए इतने मकबूल और अल्लाह के यहाँ इतनी महबूबियत जब अल्लाह के आदमी महबूब होता है तो इनकी महबूबियत अल्लाह लोगों के दिलों में डालते हैं इज्जत का रास्ता है इज्जत का रास्ता कौन सा है दुनिया की दीगरियाँ नहीं है माल और अहदे और खुर्सियाँ नहीं है इज्जत का रास्ता मोहम्मद रसूलुल्लाह का तरीका है जो आदमी जितना अल्लाह के नबी वसल्लम के तरीकों को अपनी जिंदगी में लाएगा वो इतनी इज्जत की चोटियों पर पहुंचेगा अरे ख्वाजा साहब रहमत को दुनिया से गए कितने साल हो गए अरे बोलो सौ साल हो गए पुराठ लोग उन पर क्या बरसाते अरे फूल बरसाते नहीं बरसाते बरसाते और हम पर समझे एक आदमी सफर कर रहा है मुसलमान था एक गैर मुस्लिम था तो मुसलमान ने उस गैर मुस्लिम को कहाँ जा रहे हो अजमेर शरीफ जा रहा है अजमेर का कमाल है भाई अरे अजमेर का कमाल है किसका कमाल है अरे किसका कमाल है अरे जो वहाँ आराम फरमा रहे हैं ना इनका कमाल है समझ रहे अल्लाह वाले वहाँ आराम फरमा इसलिए अजमेर मशहूर हो गया है क्योंकि वो मशहूर थे तो खैर तो उसने पूछा बहुत पते की बात है समझने की बात है तो उस मुसलमान ने पूछा कहाँ जा रहे कहा अजमेर शरीफ जा रहे बोले क्यों हजरत ख्वाजा ख्वाजा साहब की मजार पर तो उसने कहा यार वो भी मुसलमान थे हम भी मुसलमान हैं आप उन पर फूल बरसाते हैं हम पर बरस, पत्थर बरसाते क्या बात है तो उसने क्या अजीब जवाब दिया कि वो सच्चे मुसलमान थे कैसे मुसलमान थे बोलो और तुम सच्चे नहीं हो अल्लाह के नबी सलाम के तरीके जिंदगी में है अल्लाह ने इज्जत की डोलियों पर बिठाया है इसलिए मेरे प्यारों हम इज्जत चाहते हैं कामयाबियां चाहते हैं तो हमारा हर काम हमारे नबी शासन के तरीके मुताबिक हो जाए हमारे नबी ने हर चीज हमें सिखाई है थूकना सिखाया है वे थूके तो कैसे थूके बका पेशाब बहाने के आदाब सिखाए किसी मजहब में किसी ने ऐसा तरीका नहीं बताया जो हमारे नबी मोहम्मद रसूल ने हमें पेशाब पाखाने का भी तरीका बताया है कि आदमी पेशाब करने जावे जब टॉयलेट में जावे तो कहते हैं कि इन किन अमल से जावे किस तरीके से जावे इतनी बात अपने अल्लाह ने हमारे नबी शासन ने हमारा ख्याल किया है और देखो भाई थोड़ी एक बात समझने की है मैं आपको एक मिसाल बताऊं चप्पल पहनना लोग चप्पल सब पहनते कि नहीं पहनते हम्म। लेकिन नियत की कि मेरे नबी चप्पल पहनते इसलिए मैं चप्पल पहनता हूँ अरे बोले यार जब मोहब्बत दिल में आती है तो आदमी ध्यान से मेरे नबी ने चप्पल पहने इसलिए मैं भी चप्पल पहनता हूँ अब नियत अब मुसलमान नियत नहीं करता मोहल्ला साहब रहमत फरमाते थे उस उम्मत का नुकसान जितना बद नीयति से यानी खराब नीयत से नहीं हुआ इतना नुकसान नियति से हुआ है तो मैं नियत नहीं करती इसलिए कहा भाई नियत फिर चप्पल क्यों पहनने बोलो अपने शौक के लिए मैंने बोलो ना मेरे नबी ने चप्पल पहने मैं भी पहनूंगा अच्छा अब चप्पल सब पहनते हैं तो अब मेरे नबी वसल्लम चप्पल कैसे पहनते थे ये शौक जब मोहब्बत होती है ना तो आदमी के शौक पैदा होता है कि हर हर तरीकों को सीखने का शौक हमारी एक इंग्लैंड गई थी क्या गई थी बोलो इंग्लैंड इंग्लैंड तो एक साथी हमारे मस्जिद में बैठे थे एक न्यू मुस्लिम आया कौन है न्यू मुस्लिम और आके वो कह रहा है I have a twenty two सुन्नत इन माई बॉडी क्या कह रहा है बोलो सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक मेरे बदन में बाविस सुन्नते हैं कितनी है बोलो उसको पूछा भाई कितने दिन का मुसलमान है का मुसलमान बने चार महीने हुए ले कितने महीने बोलो चार महीने का मुसलमान और कितनी सुन्नत सर के बाद से लेकर बैठे नाखून तक इसने बाविस सुन्नतें जिंदा कर दी ये क्या है बोलो मोहब्बत के अलावा और हम सालों से मुसलमान हैं बाविस सुन्नत कौन है गिनाओ पता नहीं मोहब्बत ये मोहब्बत का तकाजा है खाली दावा करने से काम नहीं चलेगा मोहब्बत की अलामत और निशान ये है कि आदमी अल्लाह के नबी की एक एक सुन्नतों को सीखे और सीखकर अमल करे और वक्त तो इतना जाएगा मैं जैसे चप्पल पहनना तो मेरे नबी चप्पल कैसे पहनते थे तो अब मैं नबी के तरीके के खिलाफ चप्पल पहनूंगा तब भी इतना वक्त जाएगा मैं वक्त तो इतना ही जाएगा और मैं नबी के तरीके मुताबिक चप्पल पहनूंगा तब भी टाइम तो इतना जाने वाला है कोई फर्क नहीं पड़ने वाला लेकिन मेरे नबी मेरे दिल में मेरे नबी की मोहब्बत है तो मोहब्बत के तकाले में अब मैंने मेरे नबी के तरीके मुताबिक चप्पल पहने ये चप्पल पहनना ये दीन बनेगा ये चप्पल पहनना मेरी ईमान की हिफाजत का जरिया बनेगा अब चप्पल कैसे पहनते हैं बहुत आसान मैं आपको बता देता हूँ बहुत आसान है कि आदमी जो है जब चप्पल के जावे तो कहते उल्टा पैर यानी डाबा पैर डाबा पग कहते वो डाबे चप्पल पर रख दे ऊपर और बिस्मिल्ला बोल के सीधे पैर से जमड़े पैर से चप्पल पहने फिर डाबा चप्पल पहन ले बोलो इसमें कौन सी मेहनत है अरे पसीना बहाना है अरे बोलो ना अपने गुजराती में कहे कौन से पाड़े पछाड़ने गए अरे बोलो पाड़े पछाड़ने गए इतना आसान अमल आपका ये सुंदर के मुताबिक हो गया ऐसे भी आदमी ने चप्पल पहन लिया तब भी चप्पल तो पहन लिया इसने लेकिन ध्यान जमा कर मेरे नबी में ऐसा चप्पल पहनते थे कितनी देर लगेगी न पसीना बहाना है न अच्छा पैसे खर्च होते अरे बोले पैसे लगाने पड़ते हैं पैसे भी नहीं लगाने पड़ते और इतना आसान अमल खाना हम सब खाते हैं अरे वे खाते कि नहीं खाते उसी खाने को अल्लाह के नबी स्वास्थ्य के तरीके मुताबिक खा लो तो इतनी देर लगेगी खाने में वो वहाँ भी पैसे लगेंगे अरे बोले वहाँ पसीना बहाने का है कुछ नहीं बहाने का बस सीख लेना है मेरे नबी खाना कैसे खाते थे मेरे नबी पानी कैसे पीते थे और हमारे नबी वसल्लम के हर हर तरीके में दुनिया आखिरत के बड़े बड़े नफे है क्या बोलो आखिरत तो बनेगी ही बनेगी लेकिन दुनिया के भी बहुत सारे नफे है दुनिया के भी बोलो बहुत सारे नफे है क्या बताए एक एक इसे कहते हैं घरों में तालीम करो क्या घर में घर में तालीम होती थी तालीम के जरिए उस बच्चे को पानी पीने का तरीका सिखाया गया कि बेटा देखो तो मुसलमान है मुसलमान खड़े खड़े पानी नहीं पीता मुसलमान बैठकर पानी पीता है पानी पीने से अंदर पीने से पहले वो देखता है बिस्मिल्लाह बोल के पीता है अब सुंदर तरीका सिखा दिया वो बेटा स्कूल में गया अब स्कूल में भी क्या कर रहा है बोलो अरे बोलो खड़े खड़े पिएगा माँ ने घर में सिखाया है घर में तरबियत हुई है कहा वो गया बच्चा स्कूल में बैठ कर पी रहा है बिस्मिल्ला बोल के पी रहा है देख कर पी रहा है तो उसके दूसरे जो तो दोस्त थे जो मुसलमान भी थे तो उन्होंने पूछा भाई तू ये क्या कर रहा है तो रोजगार तो खड़े खड़े पीता था अब बैठकर क्यों पीता है भाई हमारे नबी सुभाषलम ने हमें तरीका सिखाया है तो भाई पानी पहने से पहले देख लो बैठ कर पियो उसके बड़े नफे अब वो उन्होंने भी शुरू कर दिया एक दिन रात को जो वो गैर मुस्लिम बच्चा था उसको रात को प्यास लेगी तो उसने अपनी माँ से पानी मांगा तो माँ पानी दे दे तो माँ ने पानी दिया तो, तो माँ लाइट ऑन कर क्या कर माँ ने कहा अभी पी लेने खामा के हरण क्यों करता है लेकिन बच्चे क्या होते जिद्दी होते नहीं नहीं बोले भाई लाइट ऑन कर बाद में पानी पीऊंगा तो उसने माँ ने लाइट ऑन की तो उस पानी के अंदर कीड़ा था क्या था बोलो तो माँ को दिखा देख माए अगर ये पानी में पी लेता तो कीड़ा मेरे पेट में जाता और मेरी जान का खतरा हो जाता तो माँ ने पूछा बेटा ये कुछ तुझे किसने सिखाया कहता है मुसलमान जो ना मुसलमान के नबी सिखा के गए हैं कि पानी तरीका पानी पीने का तरीका वो माँ को एहसास हुआ जिस एक तरीके में इतना नफा है तो उस दिन में कितना नफा होगा का पूरा घर मुसलमान सोचिए यानी मैं क्या बताना चाहता था कि आदमी देखकर पानी पीवे इसमें किसका नफा है अबे अपना एक अपने नबी का है अरे बोलो ना अपना खुद का नफा है क्या आदमी देख कर पानी पिए बैठ कर पानी पीने में किसका नफा है अपना एक अपने नबी का अपना नफा है आदमी खड़े खड़े पानी पीता है डायरेक्ट इसके जठर पर मार करती है और बैठ कर पानी पीता है तो आहिस्ता से वो पानी अंदर जाता है ये क्या आदमी पर छालक मारो तो क्या हाल होगा अरे बात समझ रहे समझ रहे ये बुनियाद है इसलिए नियत करें हमारे इज्तिमा में थी खाली क्या कहते रिवाज नहीं है इज्तेमा इज्तेमा में आके नियत करके जावे अब से तो हमारे नबी के तरीके पर अमल करेंगे इंशाल्लाह एक एक सुन्नतों को सीखेंगे हमारे नबी घर में से कैसे डालते थे हमारे नबी घर में कैसे आते थे कोई इसमें जो पैसे खर्च होने वाले नहीं है अरे बोला पैसे खर्च होंगे वो तो डालना ही डालना है भाई सर तेल, तेल सब डालते हैं वो तो डालना ही डालना है अब आपके तरीका सिर्फ तरीका सीखना है जैसे हर चीज के सीखने का शौक है आदमी को फोर व्हीलर सीखने का शौक है अरे है क्या नहीं बोलो बाइक सीखने का शौक है तो आदमी सीखता है पैसे पड़ता है क्या पड़ता है बोलो अरे फोर व्हीलर सीखने के लिए फोर व्हीलर सीखने के लिए आदमी पैसे भरकर फोर व्हीलर एक घंटा निकालकर कर सीखने जाता है और यहाँ पे बोलो पैसे भरने के पैसे बगैर भरे दीन सीखना है और इस पर अमल करना है आपका पूरी जिंदगी इसकी बरकतों वाली रहमतों वाली अल्लाह पाक उसको नवाजने के फैसले करेंगे हमारा पूरा मजमा नियत करे इन आज से हम हमारे नबी के हर तरीके पर चलेंगे की मोहब्बत की अलामत है और दूसरी बात क्या बताई कि भाई जो नबी से मोहब्बत करता है वो कभी नमाज नहीं छोड़ता रगड़ क्या नहीं छोड़ता वो कभी नमाज नहीं छोड़ेगा क्यों इसलिए एक हदीस में आता है मकू में हमारे रबी हजरत सही मोहम्मद मेरी आंखों की ठंडक नमाज के अंदर है मेरी आंखों की ठंडक किसमें बोलो नमाज सच्चे दिल से बताओ जो आदमी अल्लाह के नबी से मोहब्बत करता होगा वो अपनी नमाज छोड़ेगा भाई क्यों नहीं छोड़ेगा तो वो जानता है मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा मेरे नबी की आंखों में ठंडक नहीं पहुंचेगी और जाहिर बात है जो आका हजरत सईदीना रसूल की आंखों में ठंडक न पहुंचावे इसकी जिंदगी कभी ठंडक वाली बनेगी इसकी औलाद अरे इसकी औलाद आंखों की ठंडक बनेगी घर में दस एसी लगा देगा कितना एक नहीं कितने बोलो दस एसी लगा देगा लेकिन जिंदगी में नमाज नहीं है ठंडक नहीं मिलेगी क्या नहीं मिलेगी बोलो ठंडक नहीं मिलेगी ठंडक कब मिलेगी बोलो अरे बोलो कब मिलेगी जब आदमी पांच वक्त की नमाज पढ़कर हमारे नबी हजरत सईदना मोहम्मद रसूल नबी से मोहब्बत का तकादा है जो मैं नमाज पढ़ूंगा मेरे नबी वसल्लम की आंखों में ठंडक पहुंचेगी और जो मेरे नबी की आंखों में ठंडक पहुंचाएगा इसकी जिंदगी ठंडक वाली बन जाएगी अरे बोलो कैसी बन जाएगी झोपड़े में भी तके ठंडक वाली जिंदगी भूखे रहकर भी तक ठंडक वाली जिंदगी दिलों का अजीब चैन सुकून अल्लाह पर नसीब करते हैं इसलिए हमारा मजमा नियत करे कि इंशाल्लाह आज से एक नमाज नहीं छोड़ेंगे पढ़ेंगे ये कैसा इंशाला तो इंशाल्लाह सुनने वाला देखो इंशाल्लाह में बड़ी ताकत है इंशाल्लाह में क्या है बोलो बड़ी ताकत है अल्लाह वाले सुना हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा इंशा अल्लाह कहना भूल गए क्या हो गया बोलो भूल ये भूले नहीं थे अल्लाह ने भूलवाया समझ रहे क्यों भूलवाया था ताकि उम्मत को रहबरी के लिए हम सबकी रहबरी के लिए क्योंकि हमारे नमूने हमारे आइडल कौन है हजरत मोहम्मद रसुल्लाह तो भूलने से रह गया एक एक महीना तक गालिबन वही नहीं आई उपान ने आके तीन सवाल किए थे हमारे नबी ने कहा मैं बता दूंगा इंशाला कहने एक महीना तक वही नहीं आई फिर जब वही आई तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा गया नबी जी आइंदा कोई बात बगैर इंशा अल्लाह को मत कहना यूं कहा बगैर इंसा अल्लाह को कोई बात मत कहना तो अब आदमी जिस नियत से इंशा अल्लाह कहेगा वो नियत इसकी पूरी होगी समझे एक आदमी अंदर से अपने आप को बचाने की नियत में है नियत नहीं करता जैसे मुलाकात में आए चलो ना इंशाला आते हैं तो आने की नियत नहीं थी बचाने की नियत थी तो अल्लाह तोफी नहीं देता ऐसे आदमी नमाज पे नमाज पढ़ोगे इनशाला अब नियत नहीं है पढ़ने की अब इनशाला इसने न पढ़ने की नियत से कहा है तो क्या होगा फिर अरे बोला कॉफी मिलेगी बोले आदमी दिल इरादे से नहीं इनशाला मुझे नमाज पढ़नी ही है अब अल्लाह उसको कॉफी देगा ये बुनियाद तो खाली इनशाला कहते छुट नहीं जाना है सच्चे दिल से पहले जम करें जब तो इनशाला पांच वक्त की नमाज पढ़ी फिर देखो जिंदों में कितनी बरकतें आती है नमाजी के अहतमाम पर अल्लाह बरकतों वाली जिंदगी देंगे अधिक बरकत है और बरकतें आप अपनी आंखों से देखेंगे इंशाल्लाह वो बरकतें कैसे देखेंगे बोलो अपनी आंखों से उन बरकतों को देखेंगे इसलिए हम खुद अपने आप को नमाज का पाबंद बनाए और नमाज वाला अमल मामूली अमल नहीं है बड़ा कीमती अमल है बड़ा ऊंचा अमल है जैसा बोलो बड़ा ऊंचा अमल क्यों हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब महराज में गए ने तो अल्लाह ने तोहफा दिया है क्या दिया बोलो अरे क्या दिया तोहफा दिया तोहफा सच्चे दिल से बता इस तोहफे की हमने क्या कदर की है अरे कदर की है है भाई किसी आदमी का रिश्ता तय होता है वो पांच दस रुपये की पैन इसकी वो जो बीवी है जो रिश्ता तय हुआ है पांच दस रुपये की पैन बेचती है है फिर आदमी कितना संपर्क है तो इसका दोस्त है अरे पैन दे देने तो क्या कहेगा तो क्या कहेगा इस पैन की बात मत करो दूसरी चाहिए तो देता हूँ मैं सौ रुपए की पेन दूंगा ये नहीं दूंगा तो इसमें क्या है यार ये तो मेरी बीवी ने भेजी है यादगिरी है अपनी बीवी की पांच रुपए की पेन की तो यादगिरी रखता है इतना बड़ा हुक्म हमारे नबी वसल्लम के जरिए हमें मिला अल्लाह पाक ने उम्मत को तोहफा दिया इस तोहफे की हमने क्या कदर की अरे बोलो कदर करनी चाहिए कि नहीं चाहिए अगर हमने नमाज की कदर कर ली भेड़ा पार हो जाएगा वहाँ यूसुफ साहब रहमत फरमाते थे जिस आज आज उम्मत जलील ख्वाह इसलिए है कि उम्मत ने मस्जिद में आना छोड़ दिया है आज हम परेशान क्यों हैं जलील क्यों है आज हमने मस्जिद में आना छोड़ दिया है नमाज इसलिए दी थी कि हम नमाज के जरिए अल्लाह से अपने मसलों को हल करावे अल्लाह से अपनी जरूरतों को मांगे इसलिए अल्लाह ने हमें नमाज वाला अमल दिया था लेकिन हमने उसी को छोड़ दिया है लेने वाला ही अमल छोड़ दिया तब तो क्या होगा आदमी बोलो परेशान होगा जलील होगा डर डर की ठोकरे खाएगा तो वहाँ यशु साहब रमतला फरमाते थे मस्जिद कोटा पास करवाने की जगह है मस्जिद क्या है बोलो अरे कोटा पास होता है ना ये जो ये जो भंडार वाले होते हैं ना अनाज सस्ता सस्ता अनाज की दुकान है वो कोटा पास होता है यानी दस आदमी है इतने किलो चावल इतने किलो शक्कर इतना तेल मिलेगा वो कोटा पास होता है का मस्जिद से कोटा पास करवाने की जगह है जिसको मस्जिद में आना आ गया जिसको बोलो मस्जिद में आना आ गया वो किसी का मोहताज अरे बोलो किसी का मोहताज नहीं।, नहीं होगा और जिसको मस्जिद में आना नहीं आया वो डर डर की ठोकरे खा के जलील हो जाएगा आज हम जलील है देखो क्यों जलील है क्यों मस्जिद में आना अरे बोलो छोड़ दिया है पांच वक्त मस्जिद में आवे हम अब कहते हैं हर फर्ज नमाज के बाद अल्लाह एक दुआ कबूल करता है हर फर्ज नमाज के बाद क्यों होती बोले दुआ अब आदमी पांच वक्त में आया और पांच मरतबा एक दुआ को मांगा बोलो अल्लाह कबूल करेगा कि नहीं करेगा अरे बोलो ना यार इसलिए मेरे प्यारो हम अपने हम नमाजों का अहतमाम करें हम मस्जिद में आना सीखे और फिर नमाज को भी जानदार बनावे क्या बनाए बोलो जानदार नमाज बनावे जैसी जानदार अल्लाह वाले फरमाते हैं जिसकी नमाज जानदार इसकी जिंदगी शानदार जिसकी नमाज बोलो इसकी जिंदगी क्या अच्छा। थी शानदार अब आते हैं रुकू जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी क्या बात नहीं इतमान से से फिर की पांच मरतबा को मुस्तहब है सवाल है वे रुकू में जावे सुबह आजिम कम से कम पांच मरतबा वो पढ़ो अब गए सुबह सुबह सब समझने की बात नमाज अपनी जानदार बने जितनी नमाज सही होगी हमारी जिंदगी भी सही रूप पर पड़ जाती है हाँ, इसलिए नमाज को सीखे नमाज में जितनी चीजें हैं इन तमाम चीजों को याद करें सही करें क्या करें बोलो सही करें मोल साहब के पास बैठे और अपनी तस्वीर सुनावे अपना रुकू दिखावे मोल साहब मेरा रुकू सही है कि गलत है कोई फिक्र नहीं है इसलिए हम सबको नियत करना है कि इंशाला पांच लोग की नमाज का इस्तेमाल करेंगे मैं करूँगा इंशाला बड़े बड़े इनाम है बड़े बड़े फायदे हैं जब आप मस्जिद की तालीम में बैठेंगे ना तो उस तालीम के इसलिए कहते हैं ना मस्जिद की तालीम और घर की तालीम जब इन दो तालीम को किया जाएगा और जब फजाए नमाज में से जब वो फजाए नमाज पढ़ी जाएगी तो हमारे सामने इसके लाएंगे फिर तो नमाज पढ़ने के कितने नफे हैं और नमाज ना पढ़ने के बोलो कितने नुकसान नमाज का इस्तेमाल करें नमाज की पाबंदी करें हमारे घरों के अंदर भी कोई भी नमाज ही ना रहे हमें इसकी फिक्र करना है क्या करना करना है बोलो में मेरे घर में कोई जी इसलिए कि हर चीज हर चीज का असर पड़ता है हर चीज में भी ठंडी गिर रही है बोलो घरों में भी ठंडी लगेगी कि नहीं लगेगी अरे बोलो ना यार लगेगी नहीं लगेगी मैं फिर बारिश गिरी तो बारिश का असर कहाँ होता है अरे घरों पे होता है ना दीवारों हम्म। पर क्या आता है अरे बोलो क्या आता है ये आता है और फिर शकर के बन डब्बे में आगे शकर का डब्बा मोरस का डब्बा क्या था बोलो हाँ। बंद था तो बंद डब्बे में भी क्या हो गया बोलो बारिश का असर तो जैसे बारिश का असर गर्मी का असर होता है ऐसे आमाल का असर भी घरों में होता है वे घरों में पुराने पाक की तिलावत है घरों में नमाज का अहतमाम है घरों में अल्लाह के नबी सलासम की सुंदरते हैं घरों में अल्लाह के राजी करने के काम किए जा रहे हैं घरों में लोगों को खाना खिलाया जा रहा है ये सारे अमाल जन्नत के अमाल क्या क्या अमाल है बोलो ये सारे अमाल जन्नत के मैं देखो कोई चीज ऊपर जा रही हो तो उसका अर्थ इसका परछाया कहाँ गिरता है अरे बोलो कहाँ गिरेगा नीचे गिरेगा तो अल्लाह वाले फरमाते हैं ये सारे अमाल जो है जन्नत के हैं ये सारे अमाल ऊपर जाते हैं कहाँ जाते हैं तो कहाँ जाएंगे जन्नत में का तो उस घर पर जन्नत का परछाया पड़ता है जिस घर में जन्नत का परछाया पड़े बोलो वो घर कैसा बन जाएगा अरे बोलो कैसा बन जाएगा खुशगवार घर खुशगवार जिंदगी मिलेगी और अल्लाह हिफाजत फरमावे अल्लाह हिफाजत फरमावे घरों में नमाज नहीं है घरों में पुराने पाक की तिलावत नहीं है घरों में अमाल नहीं है घरों में अल्लाह के नबी स्वासम के तरीके नहीं है तब तो क्या होगा बोलो कहे सारे अमाल जहन्नम वाले ये ऊपर जाएंगे कहा जाएंगे अरे वो कहा जाएंगे जहन्नम में और हमारे घर पर काय का असर पड़ेगा न जहन्नम का परछाया पड़े फिर उस घर में चाहे कितनी ऐसी हो कितने राहत के नक्शे हो बोलो राहत मिलेगी अरे बोलो ना यार नहीं मिलेगी तो हमें फिक्र करना है कि हमारे घरों में तालीम के जरिए सदाए अमाल सदाए सरकार की तालीम के जरिए ऐसा माहौल बनावे कि हमारे घरों में कोई बेनमाजी न रहे एक भी बेनमाजी होगा तो गौरव की बरकत हमारे घरों से निकल जाएंगे हाँ अल्लाह ने फरमाते हैं एक बेनमाजी की नहुसत एक सौ ने साठ घर में पहुंचती है कितने घर में बोलो चालीस इस तरह चालीस इस तरह चालीस इस तरह चालीस इस तरह जब इसकी नहुसत चालीस घर में पहुंचती है तो जिस घर में खुद बेनमाजी होगा उसका क्या हाल होगा एक अल्लाह वाले ने अजीब बात बताई वो फरमाते थे कहते अस्सी टका लोग कितने लोग अस्सी टका लोग दिन से इसलिए दूर होते हैं कि हराम का खाते हैं क्या खाते बोलो हाँ।, हाँ हम मुसलमान हैं हमारे तरीके हमारा कमाना कैसा हो बोलो झूठ बोलकर कमाना ना हो और जब मुसलमान अमान अमानतदारी और सच्चाई पर आ जाएगा तो ऐसी बरकत भी जाहिर होगी हमारे जुमा में एक मुफ्ती साहब ने किस्सा बताया एक आदमी की कपड़े की दुकान थी काय की दुकान थी बोलो कपड़े की दुकान थी तो उस आदमी को कहीं जाना था तो उसने अपने नौकर क्यों कहा देख ये जो कपड़े का थान है न इस थान में नुकसानी है क्या है बोलो अच्छा। तो तू जिसको भी देवे ने तो दिखा कर देना बता कर देना हिम्मत दे देना एक एक चिल्ला गया ऐसी अमानतदारी और अल्लाह माफ फरमाए हमारा तो क्या हाल है छुपा कर आदमी देता है ताकि जो सर पर पड़ा है वो चला जाए वो वहाँ ईमान जहाँ और अमानत आती है वहाँ बरकत से रहमत से सब आती है तो खैर वो तो चला गया इतने में काफिला आया एक काफिले में से एक आदमी ने एक हजार रुपये में वो खरीद लिया लेकर चला गया और जब वो वापस आया मालिक वो काफिला भी रवाना हो गया मालिक वापस आया देखा तो वो थान नहीं है जो नुकसानी वाला था वो थान नहीं है कहा क्या हुआ कहते वो मैंने हजार रुपये में बेच दिया अच्छा उसने तुम्हें बताया था कि नुकसान ये तहकीक मुसलमान तहकीक करे जो इल्म जिक्र बताते हैं इल्म से मकसद यही खाली बोलने के लिए नहीं है तहकीक कुछ परत का जुल्फा आ जावे हर बात को कुछ कुछ कर करने वाले बन जावे तो उसने तहकीक की तो क्या बात बनी भाई ये जो था ना ये थान तूने कहकर दिया है डॉक्टर मैं तो भूल गया क्या कह रहा है मैं तो और मेरे जैसा होता तो क्या कहता વાહ ભાઈ વાહ સાપાસ બહુ હોશિયાર છે મારો છોકરો મારો નોકર ત્યાં નુકસાની નો માલ પહેરાઈ દીધો મેં પહેરાય નહીં है तूने પહેરા है जब अल्लाह की थप्पड़ आएगी तो अकल ठिकाने आ जाएगी खैर उसने फौरन एक घोड़ा लिया एक घोड़ा अब पूछा वो काफिला किस तरफ गया है का इस तरफ गया है तो उसने घोड़ा लेकर उसी वक्त उस तरफ का रूप इख्तियार किया और आगे जाकर वो काफिला मिल गया उसने तहकीक की कपड़े का थान किसने खरीदा था वो तो एक यहूदी था उसने कहा मैं मैंने खरीदा है उसने कहा मैं देखो सौदा कैंसल कौन कह रहा है कौन कह रहा है मुसलमान ताजिर कह रहा है भाई सौदा कैंसल बोले क्या हुआ क्यों सौदा कैंसल काम जो मैं वो जो तूने थान लिया है उस थान में नुकसानी है और मेरे मेरे नौ, मेरा जो नौकर था मेरा जो दुकान पर काम करने वाला था उसने तुझे बताया नहीं है इधर तू अपने हजार रुपए ले और मेरा सौदा तू मेरा खान मुझे वापस दे दे तो यहूदी कहने लगा भाई सौदा तो वापस नहीं होगा क्या कहा सौदा तो कैंसिल नहीं होगा लेकिन जो हजार सोने के सिक्के है वो नकली है अरे बात समझ रहे जो मैंने जो हजार जो सिक्के दिए वो कैसे बोलो नकली है वो नकली तू मुझे ले जा और ओरिजिनल तू ले जा अरे बात समझ रहे हैं तो जब आदमी ईमानदारी पर आता है अगर उसने ईमानदारी न बताई होती तो क्या होता बोलो वो थैली तो खोली नहीं थी वो हजार रुपए सोने के सिक्के क्या थे बोलो तो ईमान ईमानदारी जब आदमी हलाल कमाई का इरादा करता है तो फिर अल्लाह पाक हलाल रोजी अता फरमाते हैं थोड़ा सबर करना पड़ता है कल मौलाना ने बताया था ना कि जिस मुसलमान के घर में तीन दिन फाका हो और वो किसी को ना कहे जिसका खुलासा मौसू है वो किसी को ना कहे अपने अल्लाह को कहे तो अल्लाह पर हर अल्लाह पर हक बनता है अल्लाह पाक उसको एक साल हजार रोजी अता फरमाते हैं कितने साल की बोलो लेकिन अपना कहते हैं आपके क्या कहते हैं उतावर बहुत अपने सबक नहीं है थोड़ा धंधा नहीं चला थोड़ा हालात आए आदमी फौरन बदल जाता है वह सबर करे कहा थोड़ा अल्लाह इम्तिहान लेते हैं जांचते हैं फिर अल्लाह पाक हलाल रोजी के दरवाजे में खोलते हैं कि अपने घरों में हलाल कमाई आवे इसकी हम फिक्र करें घरों में हराम न आवे इसलिए साथी कह रहा था जैसा अन्न जाएगा ऐसा मन बनेगा जैसा अन्न हाँ यानी हाँ जैसा पेट में जाएगा ऐसा हमारा मन बनेगा हाँ मेरे प्यारों हम फिक्र करें हलाल कमाई अपने घरों में आवे हलाल रोजी अपने घरों में आवे हलाल कमावे हराम से बचे झूठ सूद धोखा देकर कमाना डंटी मारकर कमाना उससे अपने आप को बचा फिर देखो अल्लाह पाक अमन अमान वाली बेहतरीन जिंदगी अल्लाह पाक अता करेंगे और इसके लिए का सब ध्यान जमाने के लिए हम अल्लाह का जिक्र करने वाले बने क्या करें बोलो भाई आपको जितना अल्लाह का जिक्र करेगा उतना अल्लाह का धन नसीब होगा तो एक एक क्यों गया वापस देने के लिए इसके अंदर अल्लाह का ध्यान था कि अल्लाह मुझे देख रहा है कयामत के दिन अल्लाह क्या मुझे हिसाब देना पड़ेगा तो अल्लाह का जब ध्यान आता है तो आदमी हराम से बचता है और हलाल की तरफ चलता है आखिर बात बता अबू उमर रजी अल्लाह तुलानो घर से बकरी चला रहे थे सफर में जा रहे थे देखा खाने का वक्त हुआ दस्तरखान बिछाया खाने के लिए बैठे जब वो खाने के लिए बैठे तो वहाँ एक चरवाहा था बकरी चरवाने वाला उसको खाने की दवा दूंगी मैं तू खाने के लिए आ जा जब खाने की तवाज उठी तो कहने लगा मेरा रोजा है क्या कहा बोलो मेरा रोजा है तो कह रहे कि इतनी सख्त गर्मी में तुमने रोजा रखा है बड़ी गर्मी थी क्या इतनी सख्त गर्मी में रोजा रखा है क्या मैं अपने अय्या में खालिया को वसूल कर रहा हूँ यानी जो मेरा पिछला जो जमाना गुजरा है उसको मैं अभी वसूल कर रहा हूँ तो उन्होंने इम्तिहान के तौर पर किया भाई एक काम कर दे एक बकरी तू हमें दे दे हम तुझे पैसे भी देंगे और घोष भी देंगे बात तू घोष से इश्तारी कर लेना उसने कहा ये बकरिया मेरी नहीं है क्या कहा बकरिया मेरी नहीं है ये बकरिया तो मेरे मालिक की है तो अपना इब्न उम्र का कहा तेरे मालिक को कह देना एक भेड़िया बकरी को अरे बोलो आ गया तेरा मालिक कहाँ देखने वाला है वो चरवा करने लगा अल्लाह अल्लाह कहाँ चले जाएंगे यानी मेरा मालिक तो नहीं देखता कौन देखता है बोलो अरे कौन देखता है और अल्लाह कैसा देखने वाले हैं काली काली अंधेरी रात में क्या क्या बोलो काली अंधेरी रात में काले पत्थर पर काली कीड़ी काली चूटी चलती है इसके चलने पर जो लकीर बनती है उसको भी कौन देखता है बोलो अल्लाह देख रहा है अब वो ध्यान आ जाए कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है जब एक ध्यान होगा बोला आदमी झूठ बोलेगा धोखा देगा हम्म। हमें गुलाम जंगल में चरवा बकरी चला रहा है और उसको किसका ध्यान है बोलो अल्लाह का ध्यान है चर्चा अल्लाह मुझे अल्लाह कहाँ चले जाएंगे कहे फौरन अब्दुल्ला इब्न उमर रजी अल्लाह जब ये बात कहा जाती थी तो कहते थे जंगल में एक चरवा कह रहा है अल्लाह कहाँ चले जाएंगे अल्लाह कहाँ चले जाएंगे फिर वो गाँव में आए आने के बाद सारी बकरियों को खरीदा गुलाम को खरीदा और खरीद कर फिर गए और सारी बकरियां उसको दे दी लेकिन जब उसने तकवा हासिल किया तो अल्लाह ने रोजी भी पहुंचाई अरे पहुंचाई कि नहीं पहुंचाई हाँ तो तकवा जब हासिल करता है तो अल्लाह पाक उसको ऐसी तरह रोजी पहुंचाते हैं कि उसको घुमान में भी नहीं होता इससे हमें अल्लाह का ध्यान नसीब हो जाए हमारे बड़े सुबह शाम की इसकी तस्वीर का अहतमाम बताते हैं कि आदमी तीसरा कलमा पढ़े बोले सबको आता है कि नहीं आता अरे बोलो आता है कि नहीं आता क्या तीसरा कलमा पढ़े दूसरा फरमाया दुरू शरीफ पढ़े सौ मरतबा तीसरा कलमा सौ मरतबा बोलो दरुद शरीफ पढ़े अगर नबी से मोहब्बत हो तो दरुद शरीफ पढ़ना चाहिए अरे बोलो पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए अभी एक मौलाना की क्लिप आई थी मौलाना कह रहे थे एक औरत का फोन आया तो मौलाना मेरा ये मसला है आप दुआ करो मेरा मसला हल हो जाए तो मौलाना ने कहा मैं पाँच सौ मरतबा हजार मरतबा दुरुस्त शरीफ पढ़ लो और दुआ कर लो तुम्हारा मसला हो जाएगा तो कहने की मौलाना देखो मैं किसी को आज तक किसी को नहीं बताया मेरे सोर को भी पता नहीं है लेकिन मैं आपको बता रही हूँ मैं रोजाना पंद्रह हजार मरतबा धनुष शरीफ पढ़ती हूँ कितनी मरतबा बोलो एक औरत है घर के सारे काम काज के साथ कितनी मरतबा बोलो घर का वो माहौल बना हुआ था तो कहते पंद्रह हजार मरतबा ये नदी से मोहब्बत की अलामत और हमसे कहा गया सुबह शाम सौ सौ मरतबा पढ़ो पढ़ने का टाइम नहीं है हमारे नबी ने हम पर कितने सारे एहसान किए बल्कि हमें तो चलते चलते हमारे नबी पर दरुद शरीफ पढ़ना चाहिए मोहब्बत का तकादा ये है ताकि चलते चलते हमारे नबी पर दरुद शरीफ पढ़े मैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी देर लगेगी अरे भाई कितनी देर लगेगी देर लगेगी घरों में माहौल बनावे तालीम के जरिए बीवी का जहन बनावे देख अल्लाह की बंदी तू रोटी बनाती है खाना बनाती है तो बजाय इज्जत भर की बातें करने बजावे और इज्जत भर का काम करने के बजावे तू दुरुस्त शरीफ पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते पढ़ते बना अल्लाह का जिक्र करते करते बना ताकि खाने में बरकत हो जाएगी हमारी दिमाग भेजी गई थी मस्कुरा कहा गई थी बोलो जी अल्लाह का काम देखो कहाँ कहाँ हो रहा है जहाँ सबसे पहले सूरत निकलता है दुनिया में सबसे पहले सूरज कहाँ निकलता है बोलो वो फिजी में तो हमारी मस्कर की जमात गई तो एक औरत कभी जमा आती नहीं थी तालीम में लेकिन कहा इंडिया से जमात आई है हिंदुस्तान से जमात आई है तो जाना चाहिए तो औरत आई उसने सुनी और सुनकर घर चली गई जमात वापस आई तो वहां के साथी का फोन आया कमी साहब अल्लाह आपका भला करे कामी साहब ने कहा क्या हुआ तुम हुआ देते अल्लाह तुम्हारा भला करे कामी साहब मेरे घर के सारे झगड़े खत्म हो गए क्या कहा बोलो मेरे घर के सारे झगड़े खत्म हो गए तो अमित साहब ने कहा था इसमें मैंने क्या किया तो तुम्हारे सारे झगड़े खत्म हो गए कहा देखो अमित साहब मेरी बीवी आपके बयान में आई थी मेरी बीवी मस्तूर जो आपका बात थी ना बात में आई थी आपने वो कहा था भाई खाना खाना बनाओ तो अल्लाह का जिक्र करते करते खाना बनाओ जब तुम अल्लाह का जिक्र करते करते खाना बनाओगी तो उस खाने में अल्लाह नूर पैदा करेगा और उसको जो खाएगा इसका दिल भी बोलो क्या बन जाएगा अरे बोलो यार नुरानी बन जाएगा तो मेरी बीवी आने के बाद कहते अल्लाह का जिक्र करते करते खाना बनाना शुरू किया हमारे घर के झगड़े खत्म हो गए क्यों क्या पहले वो हैंसफ्री डालकर गाना सुनते सुनते खाना बना दी अरे बोलो क्या डालकर हेंसप्री डॉक्टर गाना सुनते सुनते खाना बनाती थी अब कहते इसकी नहुसतें थी गुना की नहुसत होती है जैसे गाना हर चीज का असर है का वो गाना सुनते सुनते खाना बनाती थी इसकी नहुसत खाने में आती थी जो लोग खाते थे दिल बेचैन हो जाते थे और घर में झगड़े होते थे फिर उसने बात सुनी आने के बाद गाना सुनना छोड़ दिया और अल्लाह का जिक्र करते करते खाना बनाना शुरू किया का इसकी बरकतें हुई कि झगड़े बोलो इससे सब नियत करो इंशाल्लाह घरों में तालीम के जरिए हमारे घर की औरतों का जन बनाएंगे इंशाल्लाह तो लालच तीन बात बताएगी एक तो बात अस्सी टका लोग इसलिए दिन से दूर होते हैं कि वो हराम खाते हैं दूसरा क्या बताया दस टका लोग दिन से इसलिए दूर होते हैं कि वो पूरी सोहबत इख्तियार करते हैं पूरी दोस्ती मामूली दोस्ती की बुनियाद पर और तीसरा बताया दस टका लोग दिन से इसलिए दूर होते हैं हम्म। कि भाई बेनमाजी के हाथ का खाना खाते बेनमाजी का हाथ का खाना खाने से आदमी दिन से दूर होता है हम्म। अब हमारे घर में हमारी बीवी नमाज बगैर खाना बनाएगी तो क्या होगा बोलो बच्चे फरमा बैठा नाम फरमान होंगे अरे बोलो यार हम्म। आप सब शिकायत करते बोल सब दुआ करो मारो छोकरो वो परेशान करे अरे भाई घर में देख तू तेरी बीवी नमाज के साथ खाना बना रही है ये फिक्र <clears throat> अल्लाह का जिक्र करते करते खाना बनाने की बरकत है अब कहा मेरे घरों के जगह क्या होगा बोलो भाई अच्छा, गुरु शरीफ पढ़ेंगे इंशाल्लाह सुबह शाम पढ़ना है बोलो सौ सौ मरतबा सौ फिर अल्लाह जितनी तो अभी चलते फिरते जरूर शरीफ पढ़ो भाई रिक्शा चला देगा अभी रिक्शा चला रहा है भाई रिक्शा चला जाए क्या काम है <laughs> कोई काम है उसको हाँ, भाई दुरु शरीफ पढ़ते रहो सल्लल्लाहु अब रिक्शा का भी काम हो रहा है दोनों हाथ में लड्डू फिर काम भी चल रहा है और जबान पर बोलो दुरु शरीफ भी शुरू एक आदमी भाई ये दूसरा कोई काम कर रहा है तो बाद में तो बैठे रहना होता है तो बैठे बैठे दूसरी बात सोचने के बजाय तो अल्लाह का जिक्र कर लो ताकि हमारी आखिरत बन जावे हमारे अल्लाह का ध्यान आ जावे तो कहा भाई हम सुबह शाम तीन तीन तस्वीर का अहतमाम करेंगे मैं करोगे इंशाला इज्तम से वापसी पर रोजाना फजर बाद असर बाद बोलो फजर हम्म। बाद और अगर हाँ। असर बाद मौका नहीं मिलता तो सोने से पहले पहले तीसरा करना पड़े भाई पढ़ेंगे गुरु अच्छा। शरीफ पढ़ेंगे और तीसरी तस्वीर क्या बताई सौ मरतबा इस्तेफार पढ़ना क्या पढ़ना इस्तेफार फिर पूरा पूरा सीख लो अस्तक फिर अगर पूरा नहीं आता सीखने तक आदमी अस्तक अस्तक अपने गुनाहों को याद करे अल्लाह ये गुनाह किया था तू माफ कर दे अल्लाह ये गुनाह किया था तू माफ कर दे अल्लाह माफ करने वाले हैं हम माफी मांगने से अल्लाह पाक झूठ होते हैं बड़े बड़े गुनाहों को अल्लाह ने लोगों के माफ किए हैं एक आदमी था उसने नौबान खून किए थे कितना नौबान बदल किए थे अल्लाह पाक बहाना ढूंढते हैं अल्लाह तो ये चाहता है मेरा बंदा मेरी तरफ आवे मैं उसको माफ कर दूँ तो उसके दिल में तलब हुई यार मैं मर जाऊंगा तो मेरा क्या बनेगा अल्लाह के सामने तो उसने तहकीक की एक मोल साहब से बात की क्या मोल साहब मुझसे ऐसा गुना हो गया तो कोई आदमी थे मैं मुझसे गुना हो गया है नवमाणु और मेरा क्या होगा कहा तेरी तो मफफरत नहीं होगी क्या कहा तेरी तो मफफरत नहीं होगी उसने कहा अच्छा ले थे सोमा सौ पूरे किए फिर अंदर तलब थी क्या यार मेरे मुझे माफी अंदर जब तलब थी तो कहा बेटे देख पानी बस्ती में कल्ला वाले वहां जा तेरा कोई रास्ता निकल जावे तो वो चलते चलते उस बस्ती से निकला का ठोकर लगी हीरा और इंतकाल हो गए अब फरिश्ते आए जन्नत के भी आयो अब दोनों ये जन्नत वो कह जहन में अब अल्लाह के पास गए तो अल्लाह ने कहा वो जमीन मापो जहां से निकला है वो मापो और जहां पहुंचना है वो मापो अगर जो जहां जाना है वो करीब है तो वह जन्नती है अगर इस बस्ती के करीब हो तो जहन्नमी है अल्लाह ने अपनी कुदरत से उस जमीन को खरीद कर दिया और उसको जन्नत में पहुंचा दिया कितने फोन किए थे बोलो तो आपने तो सौ नहीं किए ना अरे बोलो ने यार एक भी नहीं किया तो क्या करेंगे बोलो सिर्फ अल्लाह से माफी अब अल्लाह को माफी मांगना बड़ा पसंद है अल्लाह माफ कर देते हैं वे इन इंशाला फिर चौथा क्या बता इकराम हमारे अखलाक बने माँ बाप को कितना परेशान करते हैं अरे बोलो ने यार कितना परेशान किया अब माफी मांगना बाप माँ बाप का दर्जा कितना ऊंचा बताया है बाप का जन्नत का दरवाजा है माँ के पैर के नीचे क्या है बोलो एक अल्लाह वाले रोजाना रात को अपनी अम्मी की पैर को बोसा देते थे बोसा समझते ना चुम्मा देते थे पूछा बेटा मेरे पैर को क्यों बोसा देता है कहा अम्मी आपके पैर को बोसा नहीं देता मैं तो अपनी जन्नत को बोसा देता हूँ कि माँ के पैर के नीचे जन्नत है बाप जन्नत का दरवाजा है आप आदमी को माँ से क्या सुलूक कर रहा है भाई माँ को माँ को खुश रखना ऐसे अभी वक्त नहीं हमारे पास वरना बताया जाता है कि माँ बाप की इताद पर क्या क्या मिलता है कितना अल्लाह नवाजने के फैसले करते हैं फिर अच्छा, मैं बता देता हूँ ने सत्कार ने किस्सा लिखा है एक बाप के चार बेटे थे कितने बेटे बोलो चार बेटे थे तो एक बेटे ने अपने तीन भाइयों से कहा देखो अब्बा बड़े बीमार है अगर तुम इस शरत पर खिदमत करो कि जो भी बाप की खिदमत करेगा वो विरास में से कोई हिस्सा लेगा नहीं यानी जो बाप की मिलकत है इस मिलकत में उसको हिस्सा मिलेगा नहीं बोलो कौन तैयार है अगर तुम तीन तैयार नहीं है तो मैं तो तैयार हूँ वो चौथे बच्चे की जिंदगी में दीन था इसलिए बच्चों को दीन सिखाओ दीन सिखाओगे तो अपने बुढ़ापे में लकड़ी का सहारा बने जो सहारा बनेगा अगर हमने इनको दीन नहीं सिखाया तो बुढ़ापे में हमें गाली बोले तो हमारा ही कसूर है हमने उसको भीम सिखाया नहीं है अब कहते वो कह रहा है अब वो तीन भाई खुश हो गए भाई चलो झंझट छुटी और अपने माल भी मिल जाएगा अब उसने दिल से बड़ी बाप की खिदमत की लेकिन बाप के मुकद्दर में मौत थी बाप का इंतकाल हो गया क्या हो गया बोलो अब्बा का इंतकाल हो गया जब अब्बा का इंतकाल हो गया तो फिर उसने शरत के मुताबिक कुछ नहीं लिया शरत के मुताबिक बोलो विरसे में से कुछ नहीं लिया वो रात को सो गया ख्वाब देखा तो ख्वाब में कहा फलानी जगह सौ दिरहम दफन है तू लेके आ जा तो उसमें उसमें सवाल किया इसमें बरकत है क्या इसमें बरकत नहीं है तो क्या नहीं चाहिए सुबह उठा बीवी से कहा मैंने ऐसा ख्वाब देखा है तो बीवी ने क्या कहा तो बीवी की हर बात नहीं मानने की मानने जैसी मानने की देवी कहे दाढ़ी निकाल दो तो नहीं मानने की देवी कहे कि जो है शादी में बैंड बाजा मंगवा तो नहीं मानने का अरे बात समझ रहे मानने जैसी बात मानने की आ क्या करे घर की औरतें नहीं मानती अरे तू क्या नहीं मानती मानने जैसी बात मानने की तो बीवी ने क्या कहा अरे जाओ जल्दी जाओ जल्दी जाओ सौ रुपये लेके आ जाओ काम हो जाएगा क्या नहीं नहीं इसमें बरकत नहीं चाहिए देखो इसमें बरकत किसको कहते हैं वो भी बात समझ में आ जाएगी बरकत बरकत सुनते हैं तो बरकत किसको कहते हैं वो भी बात यहाँ समझ में आ जाएगी तो कहा भाई नहीं चाहिए बीवी की बात नहीं मानी दूसरे दिन सो गया तो फिर ख्वाब आया कि फलान जगह दस दिन हो गए कितने अरे सौ के कितने हो गए दस हो गए तो फिर वो कह रहा है सुबह बीवी से पूरे दस दिन गए बोला आप दस रहे लेके आ जाओ बाबा लेकिन बोलो बात माने बीवी की क्या अच्छा। इसमें बरकत नहीं है मुझे कबूल तो बीवी की हर बात नहीं मानने की मानने जैसी बोलो हाँ। अरे मानने जैसी मानने की फिर मैं आपको दूसरी बार इसको समझाऊंगा आगे फिर कल तीसरे दिन सो गया तीसरे दिन ख्वाब आया क्या ख्वाब आया आप बोले कब दीरम है अरे कितना दीरम बोलो अरे नौ ज्यादा दस ज्यादा के एक ज्यादा अरे बोले यार अपने हिसाब से सौ ज्यादा और यहाँ कितने बोलो हम्म। ये उसने ख्वाब में पूछा इसमें बरकत है सरकार हाँ। इसमें बरकत है अब टीवी को भी नहीं पूछा अरे बात समझ रहे तो दाढ़ी रखने में बीवी को पूछने का दाढ़ी रखूंगी नरम अरे बोलो ने हाँ। मैं नमाज पढ़ने जाऊँ की न जाऊँ मैं शादी में बेट बाजा मंगाऊ ये सब नहीं पूछने का जहाँ अल्लाह का हुक्म हो वहाँ बीवी को कुछ नहीं पूछने का अल्लाह का हुक्म आकाश दर्शन के तरीके को अदा करना है करोगे इंशाल्लाह आगे गया एक निगम लेकर आया वो एक निगम लेकर सीधा बाजार में गया बाजार में जाकर वो मछली खरीदी कितनी मछली खरीदी दो मछली खरीदी वो मछली लेकर घर आया मछली को काटा अंदर दोनों मछली में से एक एक कीमती मोती निकला क्या निकला बोलो कीमती मोती निकला इतने कीमती मोती थे एक वक्त के बादशाह ने इन मोतियों को और नब्बे खच्चरों के बकदर खच्चर किसको कहते हैं गधे से बड़ा घोड़ों से छोटा कितने किलो का होगा अरे कितने किलो का सत्तर किलो भी गिने तो कितना हुआ सात नवा बहत्तर बहत्तर सौ किलो सोना दिया कितना सोना बोलो अरे कितना किलो ये बरकत वो घर लेके आया मेरे बात समझ रहे जैसे कहा कि झूठ बोलकर धोखा देकर रोजाना लाख रुपए कमाता है कितने कमाता है लाख रुपए कमाता है और एक आदमी सच बोलकर नमाज के अहतमाम के साथ अमानत तारीख के साथ हजार रुपए कमाता है तो बोलो आगे कौन आएगा लाख वाला हजार वाला अरे बोलो कौन आएगा बाप की खिदमत पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसने सोने का मालिक बना दिया तो माँ बाप की खिदमत पर ही मिलता है तो नियत पर इंशाल्लाह माँ बाप की खिदमत करेंगे करोगे बीवी से अखलाक से रहना शर्म आनी चाहिए कि आपने बीवी को गाली बोले कि बेचारी कितनी कुर्बानी के साथ आई हमने कितना कहा मैंने कबूल की बोले इतना कहा था ना बोलो कि पहाड़े पर थे मैंने कबूल की बस इतना कहा था और उसने कितनी बड़ी कुर्बानी दे दी अरे कुर्बानी दी के नहीं दी अपने माँ बाप को छोड़ दिया जहाँ बीस साल से रहती थी अपनी सहेलियों को छोड़ दिया बहनों को छोड़ दिया भाई को छोड़ दिया और हमारे पास आ गई और हम, हम उसको दिल सिखाए उस पर जुलम करे उस पर गाली बोले तो अल्लाह क्या बोले हिसाब देना पड़ेगा कितने पड़ेगा हम्म। भाई में मुस्लिम में बात है हम हरेक के हक को सीखे बीवी के माँ बाप के पड़ोसी के जानवरों के हरेक के हकूक सीख कर अदा करने वाले कहे भाई बनोगे इन शाह क्या बताया भाई इखलास ये सब क्यों करना है अपने बाबा के लिए नहीं कि मेरा अल्लाह मुझसे क्या हो जावे राजी हो जावे अरे सारी बात पैदा करने के लिए कहा बोलो बगैर कुर्बानी कुछ आएगा मैं तस्वीर लेकर बैठ जाऊँ एक रुपये की माचिस कितने रुपये की माचिस एक रुपये की माचिस मुझे अपने घर में लाना है मैं तस्वीर लेकर बैठ गया माचिस माचिस माचिस माचिस आ जाएगी हेलो उड़कर आ जाएगी माचिस लाने के लिए क्या करना पड़ता है बोलो अरे बोले कुर्बानी नहीं जान माल वक्त लगता है तब तब जाके घर में माचिस आती है इतना मुबारक दिन अल्लाह के नबी के तरीके अपनी जिंदगी में आ जावे इसलिए हमें भी कुर्बानी देनी पड़ेगी तो पूरा मजमा नियत करो इंशाला जल्द से जल्द चार महीने लगाएंगे हम कौन लगाएगा चार महीने हाथ ऊंचा करो देखो हाथ ऊंचा नहीं करते क्या हो गया हमें हाथ ऊंचा करो चला चार महीने लगाएंगे इज्तेमा अच्छा, मात्र तो कौन जाएगा चार महीने लगता बताओ अब कोई नहीं जाएगा बोलो हिम्मत करो कौन कह रहा है कि इसके माथे चाय में तैयार इंशाल्लाह ये सारी बातें लाने के लिए कुर्बानी है बगैर कुर्बानी के कुछ नहीं होगा भाई बीजा नहीं खाने को क्या करना पड़े मैं बोलो यार बिरयानी खानी हो तो बकरा कुर्बान करना पड़े बकर बकरे कुर्बान किए तो बिरयानी नहीं बनेगी ऐसे सारी दिन अपनी जिंदगी में आ जावे इसलिए हम सबको कुर्बानी देनी पड़ेगी सब नियत करो इंशाला चार महीने जल्दी से लगा देंगे मैं लगाऊंगा इंशाल्लाह भी मौका है अल्लाह से दोनों का नमाज पढ़ के मांगे अल्लाह के सामने रोए है ना इशाक भी इशाक का वक्त इशाक पढ़कर दुआएं करे कि अल्लाह पक हमें चार महीने के लिए कबूल कर ले मैं मांगूंगे अल्लाह पाक की